इन औरतों को अपनी हैसियत के मुताबिक उसी जगह रिहाइश मुहैया करो जहां तुम रहते हो और उन्हें तंग करने के लिए उन्हें सताओ नहीं और अगर वो हामिला हों तो उनको उस वक्त तक नफका देते रहो जब तक वो अपने पेट का बच्चा जन्म लें फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी उजरत अदा करो और उजरत मुकर्र करने के लिए आपस में भले तरीके से बात तय कर लिया करो और अगर तुम एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करोगे تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی